है धनी है का मतलब है स्थिति गति आप हम जितने भी यहां बैठे हैं स्थिति में है गति में धनी है का मतलब भी है इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने इस बात का इस, इस शब्द का अर्थ बताया है शिव और विष्णु हरि का मतलब होता है विष्णु हर का मतलब होता है शिव ऐसा बताया हम जो पहचाना हरि का मतलब है गति हर का मतलब है स्थिति इतने का ये आपको बताए जो आपको अच्छा लगता है उसी को अपनाइए कोई तकलीफ नहीं हमारे बुजुर्गों ने बताया वो भी बताया है मैंने जो समझा है वो भी सब बता बता अब जो आज के ए, हमारा वक्तव्य में ये सुनना चाहते हैं परिवार मूलक और राज्य व्यवस्था को हम प्रस्तुत करें ऐसा हमको बताया गया रणसिंह आर्या प्रधान और उसके समर्थन में सब अब एक आश्चर्य की बात है तो परंपरा परंपरा मानव परंपरा को ऐसा माना गया है तो अत्याधुनिक विधि से जंगल युग से शहरी युग तक यात्रा हुई एक दूसरा विधि से राजयुग से और सभा युग तक एक राजनैतिक यात्रा हुआ और धर्मनैतिक यात्रा जो है जो गुरु परंपरा के रूप में प्रचलित हुई ये इस, इस ये तीन बात को याद रखने की आवश्यकता हमारे यहां हाँ, जो ये जो परंपराएं हैं इसको ऐसे ही स्वीकारने की आवश्यकता अभी आगे हमको क्या होने की आवश्यकता उस पर सोचने की बात अभी राजनीतिक विधि से हम व्यक्ति व्यक्ति के रूप में राजा को पहचाना राजा गलती नहीं करता है ऐसा माना माना गया जब जब संसार ये माना राजा गलती करता है उनको नकार दिया और, उसके बाद सभा के शरण में हम अभी सभा का अनुमोदन से संविधान को स्वीकारा जाता है वो स्वीकार जब वो संविधान की तले आप हम सब सामान ऐसा मान करके हर संविधान अपने अपने जगह में कुछ समुदाय को माना हुआ माना गया ठीक है ये यहाँ पर ये ये समझना ही इतिहास इसको समझाता है इसमें अपन अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं इतने बात को समझने के लिए बहुत सारा परेशानी भी है ये तो बात उसके बाद अब बात आए सभा के बारे में सभा के बारे में सोचने में आता है यही उत्तर प्रदेश जिस धरती पर आप हम बैठे हैं गत गत वर्ष या थोड़ा दिन पहले जो इलेक्शन हुई उस समय में 200 से अधिक एमएलए थे चार सौ से उसमें से दो सौ बारह ये किसी पार्टी को मिले उसमें इसमें से पेपर में लिखा था दो सौ बारह में से बारह तो करप्टेड ये पत्रों में लिखा तो ये हर दिन जो है ना राजनीतिक सभा में जो काम करते हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में उनके ऊपर वो आरोपी आरोपी आरोप सभी बात सुनते ही हैं इस ढंग से हम कहाँ पहुंचेंगे इनको कैसा माना जाए एक बात इसको इस एक प्रश्न चिन्ह में आता है दूसरा विधि से तो अभी राजनीतिक संसार में जो कुछ भी भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार का मतलब जो ऐसा है जो नदी बनता है तालाब बनता है बांध बनता है वो बनता है जितने भी सरकारी योजना है उसमें नेताओं को कितना मिलना है अधिकारियों को कितना मिलना है पूर्व निर्धारित है ये जो समय उस समय में तय हुआ जब सर्वप्रथम कांग्रेस ने धरती पर राज उस समय में तय हुआ उसके बाद जो है ना अभी तक चल रहा है इसमें इसको ये जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का किसी पार्टी में लिया नहीं ये बेभ्रम है इन सब बातों को सुनने पर हम क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है इस बात पर एक तुलनात्मक बात को तय कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम चाहते हैं अच्छा पता अच्छा का पता तो नहीं अच्छाई को पता लगाना शेष दूसरा जो अच्छाई को चाहते हैं उसमें कम से कम जितने भी गलतियां हैं उसको तो नकारते हैं नकार करके जब हम स्वयं करते हैं उसको वही मान लेते हैं इतना ही बात इस ढंग से हमारा जन्मानस पर नहीं इसका मूल कारण हमको जो प्रचलित शिक्षा है वही कारण या अभ्यास है जैसा अभ्यास कर लिए हैं या शिक्षा मिला दोनों में से एक ही इन दोनों मिल करके हमारा मानसिकता ही ऐसा बना है हम गलती करते हैं वो गलती नहीं है दूसरा करता है वो करता है ऐसे जगह में हम आ गए हैं या इसको देना जिसका दे परंपरा के हमारा कुल परंपरा के जैसा देश परंपरा के विधि से आई या नहीं तो शिक्षा परंपरा विधि से आई इस तरह से हम वह बन के इन इसमें से कैसा मुक्ति पाया जाए वाला बात इसके लिए एक ही विचार है हमने जो अनुभव किया है उसके अनुसार आपसे अनुरोध करने के लिए हम प्रश्न मैं जो अनुभव किया कल बताए थे मैं अपने इसके वेदमूर्ति परिवार के संतान हूँ वेदमूर्ति परिवार में जो जन्म लेने के आधार पर वेद मूर्तियों के परिवार में जन्म लेने के आधार पर वेद विचार को हम सुनते ही रहे पढ़ने से ही सुना रहा और दस बारह वर्ष तक में हमारा मन में ये आया इसको ठीक से समझना चाहिए बाईस वर्ष तक उस पर पूरा समय दे करके समझ समझने पर वेद वेद विचार का जो सार है वो सब उपनिषद है उपनिषद का सार भाग है वेदांत ये ये समझ में आया और वेदांत के अनुसार जो हम जो समझा कि वेदांत में लिखा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक लाइन लिखा है उसके नीचे लिखा है ये दूसरा लाइन तो ब्रह्म से जीव जगत पैदा हुआ उसके तीसरे लाइन में लिखा है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या और सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हो गए भाई वट का झाड़ से वटे पैदा होता है पीपल का झाड़ से पीपल है मनुष्य का पेट से मनुष्य उत्पन्न होता है और ये कौन सा विधि होता है सत्य से मिथ्या पैदा होना कैसा हो ये तो लफंगारी का काम होता है ऐसा हमारा दिमाग में है ये हमारा परिवार में ऐसा इसका उत्तर दिया तो छोटे मुंह में बड़े बड़े बात करते हैं ऐसा शुरू उससे मुक्ति पाने के लिए हम हमारा मन में संकल्प उदय हुआ उसके आधार पर समाधि संयम से ज्ञान ज्ञात होता है उस समय में रमण महर्षि जी एक संत थे उनके उद्गार भी ऐसे ही था शास्त्रों में लिखा भी ऐसे उसको हम पढ़ा उसके आधार पर अमरकंड तक को सही जगह माना कम व्यवहार से यहाँ यहाँ रह सकते हैं साधना कर सकते हैं साधना किया जैसा मन पड़ा वैसा और तो उसके परिणाम स्वरूप हम एक पूरे बात को समझे ज्ञान हो इन ज्ञान होने के फलस्वरूप हम उसको वो ज्ञान को मानव का स्वत्व तो है ऐसा समझे उसके आधार पर शिक्षा विधान में इसको प्रवेश कराने के पक्ष में हम काम कर रहे हैं उसी के सहमति के लिए सभाएं हैं और सम्मेलन है शिक्षा विधि है सूचना विधि है अध्ययन विधि इन सभी बात को लेकर के हम चल रहे हैं इस, इस क्रम में हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था नाम दिया है हमने अभी तक क्या हुआ व्यक्ति राजा के रूप में वह दूसरा विधि से वह सभा एक राजा को पहचानने के अर्थ में अभी जो है अब जो हम कह रहे हैं परिवार ही एक ऐसा वस्तु है जो जिसमें तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था चारों भाग का निर्वाह होना परिवार को हम पहले परिवार को ये पहचाना है कम से कम दस समझदार व्यक्तियों का सम्मिलित जो मैंने परंपरा ही है एक परिवार ऐसा मैंने ये इसका संख्या भले घटा बढ़ा हो सकता है किंतु तो इसके लिए जो बताए गए जो गुण है वो कायम रहेगा तो वो तो आठ व्यक्ति भी हो सकते हैं बारह व्यक्ति भी हो सकते हैं किंतु समझदारी इन बारह व्यक्ति में भी रहेगा आठ व्यक्ति में भी रहेगा समझदारी के बिना परिवार कोई सुनिश्चित कर नहीं होगी नहीं इसको कौन करेगा पूछा शिक्षा विधि से ये समझदारी को पूरा करने की जिम्मेदारी समझदारी का क्या स्वरूप है पूछा समझदारी में ज्ञान विवेक ज्ञान इन तीनों बातें यदि पूरा होता है तो समझदारी नहीं तो कोई समझदारी नहीं तो अभी जो है ना विज्ञान की का बात करते हैं विवेक और ज्ञान की बात छोड़ दी विज्ञान भी उस बात के लिए शुरू है तो बाधा सुरक्षा के लिए शुरू हुआ प्रौद्योगिकी विधि से आदमी को दूर संचार व्यवस्था मिलती है इतफाक इतने ही मिला अभी अत्याधुनिक विज्ञान से जो मानव को जो सर्वमानव को जो सुलभ हुआ वो ही दूर संचार और कुछ भी नहीं बाकी जो है ना पूरा का पूरा जो सीमा सुरक्षा में सामरिक तंत्र में ही मदद की जो कुछ भी है तो सामरिक तंत्र जो स्वयं में अवैध को वैध तो मानने का पूरा कार्यक्रम ढंग से आदमी कब बनेगा अवैध को वैध तो मानते हुए आदमी कब बनेगा ये प्रश्न चिन्ह बनता है इसका उत्तर देने वाला एक भी नहीं संसार में तो कोई भी नहीं इसका उत्तर देने वाला नहीं ये बात अपने सामने तो इसके ढंग से अभी तक जितने भी सोच विचार हुआ अच्छे लोग अच्छे लोग ही सोचे होंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सोचा नहीं है तो बाल सुरक्षा के बिना आदमी सुरक्षित रूप से जी सकता है ये भी इतिहास विधि से अपन अध्ययन करने से इसकी पता लगता है अध्ययन किए भी होंगे सभा में बैठा हुआ लोगों में से बहुत सारे लोग अध्ययन किए ही होंगे समझे ही होंगे इस बात को ऐसा मैं अनुमान करता हूँ इसके आगे एक भाग ये है तो भी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था हो सकता है ये अनुमान रखते हैं हमारे अनुभव में आया परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था ही एकमात्र रास्ता है अपराध मुक्त और अपना पराया से मुक्त ब्रह्म मुक्त विधि से चलने के ये हमारा समझ में आ गई उसके उसको हम सूचना के रूप में आपको बता रहे हैं अध्ययन करना हो तो हमारे पास अध्ययन की व्यवस्था ठीक है एक तो दूसरे घाट ये तीसरा घाट ये है परिवार का जो परिभाषा बताया कम से कम दस समझदार समझदारी का मतलब मैं बताया कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होता ज्ञान का मतलब है रूप रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान पूरा समझ में आना और समझ में आने की बात प्रमाण होना <clears throat> इसका नाम है ज्ञान समझ में आया प्रमाण नहीं है ज्ञान है समझ में आया प्रमाण हुआ और उस, वो ज्ञान ठीक है उसी के बाद जो है ना दूसरा भाग है जीवन समझ में आता है जीवन के बारे में हम समझे हैं अच्छी तरह से हम देखा है समझा है वो है गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन रूप में काम करता है क्योंकि हम इसको साहस से कृपा ऐसा अध्ययन किया है એ एक व्यापक वस्तु एक एक वस्तु વस्तु का अविभाज्य वर्तमान और एक बार व्यापक वस्तु एक है जिसको हम ऊर्जा और ज्ञान के रूप में पहचाना और जड़ प्रकृति में ऊर्जा रूप में प्राप्त है मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त इन दोनों का दोनों मिल करके हम व्यापक वस्तु को हैं ऐसे व्यापक वस्तु जड़ से जन्य प्रकृति को प्राप्त ऐसे प्राप्त वस्तु का मानव अनुभव करता है जड़ प्रकृति काम करता है काम करने के स्वरूप में क्या देखा श्रम गति परिणाम तीन बात को देखा इस पूरा जड़ प्रकृति श्रम गति परिणाम कर ही रहा है वो हर परिणाम अपने में यथा एक यथास्थिति वो अपने यथास्थिति अपने में निश्चित आचरण है व्यवस्था वो अपने में पौसाहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी आचरण यदि समझ में आता है स्थिर होता है अपने आप में पौसाहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी जैसा दो अंश का परमाणु कम से कम वो दो अंश का परमाणु का आचरण सुनिश्चित है वो कहीं भी होगा इस धरती में दूसरे धरती में तीसरे धरती में अनंत धरती में वो उसका निश्चितता है और कुछ कार्य करता ही नहीं वैसे दो सौ ओष का परमाणु वो भी सुनिश्चित कार्य ही करता है किंतु मानव गठन पूर्ण परमाणु होते हुए जीवन के रूप में शरीर शरीर जो है ना प्राण पोषकों से रचित रचना है गर्भाशय में रचित होती ये इसको आप हम सब अध्ययन कर चुके हैं या कर सकते हैं दो में से एक इन, इन दोनों का विभाज्य विधि से मानव का स्वरूप शरीर भी हो जीवन भी हो सब मानव संज्ञा मरा हुआ मुर्दई को मानव नहीं कहते मुर्दई कहते इस ढंग से परंपरा अपने ढंग से कुछ कुछ कहते भी आया है उसका अर्थ भी सही हो सही भी हुआ है कुछ कुछ गलती भी हुआ है तो कुछ गलती हुआ है उसको ठीक करने का काम हम किए हैं वो कैसे किए हैं शब्द तो परंपरा की है परिभाषा हमारा इस ढंग से पूरा दर्शन भी था शब्द परंपरा बोल सकूँ उपाध्याय हो और उसका परिभाषा जो लिखा है मैंने लिखा हूं उस आधार पर सहस्त्र के अर्थ में विकास क्रम के अर्थ में विकास के अर्थ में जागतिक क्रम के अर्थ में जागृति के अर्थ में लिखा पांच सूत्रों के अर्थ में लिखा लेकिन इसके बारे में आप लोगों का सहमति क्या होगा असहमति क्या होगा वो भी आप लोग बता सकते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं उसके पास सहमति के लिए हम प्रार्थना कर भी सकता हूं और ऐसा उसके लिए आप लोगों का अनुमति चाहिए तो उसके बाद ये जो हुआ तीसरा घाट कहां पहुंचे तो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव और जो है ना मानव जो है ना एक एक अवस्था की प्रकटन है प्रकृति तो, तो इसके पहले जीव संसार एक प्रकटन उसके पहले वनस्पति संसार एक प्रकटन है उसके पहले पदार्थ संसार है ही पदार्थ संसार खत्म नहीं होता परिणत होकर के छोटा होता है बड़ा प्रकट प्रकट होना है विस्तार है और बने ह्रास होना है संकोचन है संकोचन प्रसारण जो है ना प्रकृति में इस विधि से होता जाता उसमें से हमने अनुभव किया है संकोचन प्रसारण का जो ज्यादा से ज्यादा काम है वो रासायनिक संसार प्रकृति ये वेजिटेशन है जो हरियाली इसी में संकोचन प्रसारण की अवकाश पूरा है और पदार्थ संसार में आधार और मानव परंपरा में जीव जीवन जो है ना यथावत रहता है शरीर जो है ना रासायनिक भौतिक वस्तु का रचना ये इस प्रकार की अध्ययन कराने की व्यवस्था दी है सूत्र रूप में भी बताया जा रहा है उसके बाद इसके आगे की प्रकरण ये है ऐसे जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में जो मानव आया है मानव शरीर ऐसा बना है जीवन सहज कल्पनाशीलता कारण स्वतंत्रता को प्रकट करने योग्य हो उसका पहला प्रमाण है कि हर बच्चे मानव संतान जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ जन्मता है इसमें कुछ किसी को शंका है अब एक बात हर मानव संतान कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के साथ जन्मता है फलस्वरूप क्या हुआ हर मानव संतान न्याय चाहता है सही कार्य कर व्यवहार करना चाहता है सत्य सत्यवत्ता होता है जन्म तो उसको परंपरा ने अपने अनुसार ढालता है सकल को कर्म करना योग्य और उसके बाद क्या बात है या सुकर्म करना योग्य यही यही संभावना बनी अब सुकर्म करना योग्य होने से क्या है अव्यवस्था बनती जाती है और सुकर्म से क्या है व्यवस्था बनती जाती है इससे ही बात दोनों दोनों दोनों में से क्या होना चाहिए अपने को सोचने की बात अपनी अपेक्षा करने की बात उस, उसको समझने की बात निष्ठा रखने की बात आती इसकी आवश्यकता है या नहीं इसको भी सोचने की बात आती उसके बाद ये ऐसे जो अपेक्षा है मानव संस्थान को उसको पूरा करने के अर्थ में ये पूरे पूरा का पूरा प्रस्तुति मेरा पूरा प्रस्तुति उसी अर्थ में है तो उसमें क्या अर्थ है तो नई प्रदायिक क्षमता को बच्चों में स्थापित किया अभी बच्चे बैठे हैं इनसे पूछ रहे हो तो इनको न्याय प्रदायिक क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए ये सभी बोलेंगे हाँ इसको हम दस स्कूल में देख सकते हैं सर्वाधिक बचना जरूरत है इधर ठीक है तो न्याय प्रदायिक तो क्षमता को स्थापित किया जाए सही कार्य व्यवहार को हम स्वयं पहचाना जाए इनको बोध कराए जाए इनको प्रमाणित कराए जाए तीसरा तीसरा भाग है सत्य वक्ता होते हैं हर बच्चे जन्म से उनको सत्य बोध कराए अपन स्वयं सत्य बोध किया जाए सत्य बोध करके प्रमाणित किया जाए रूप में इनको बोध कराया जा रहा यह ऐसा बन इन, इनके इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम शिक्षा विभाग में इसको प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ठीक ये हुआ चौथा कार्यक्रम पांचवें कार्यक्रम में यह है जो ऐसे समझदार हो जाता है आदमी बचपन से बड़े तक सभी समझदार होना योग्य है माना तो समझदार भी हो जाते हैं किसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान जो होता है मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप मूल्यों को अध्ययन कराते हैं है ना चरित्र को अध्ययन कराते हैं और नैतिकता को अध्ययन कराते हैं नैतिकता जो होता है हर मन, हर मन, बच्चे से लेकर बड़े तक तन मन धन तीन तीन वस्तु होती इन इसका सुरक्षा हो जाए सदुपयोग हो जाए सदुपयोग को पहचानना किस आधार पर होता है अखंड समाज व्यवस्था में समझदार परिवार में सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का उपयोग होना ये सदुपयोग होना सुरक्षा होना बनता दूसरा किसी विधि से होता अभी तक सारा सेट टूट लिया स्ट्रांग रूम बना लिया वो भी टूट गया किला बनाया वो टूट गया लोहे का घर बनाया वो टूट गया मट्टी का घर बनाया वो टूट गया पत्थर का घर बनाया वो टूट गया और क्या चाहते हैं और कितना प्रयोग चाहते हैं ये बात ये सब कहां से आया परंपरा से आया परंपरा में समाया है वो चल रहा है इसको सबको अपने को स्वीकारना होगा और इसमें सही पन को छानना होगा ये सही है ये गलत है इसको कैसा करेंगे अखंड समाज के अर्थ में जितने भी सूत्र व्याख्या होगा वो सब सही है समझदार व्यक्ति के रूप में आदमी को पहचानने के विधि सब सही है समझदार परिवार के रूप में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के रूप में जीना एक सही है इस बात को समझना इसके पहले समझ सही परमात्मा को समझ में ही नहीं आता सही किसको कहे ये हम किसको सही कहते हैं उसको आप गलत कहते हैं आप जिसको सही कहते हैं मैं उसको गलती कहता हूं ईश्वर से कहा पहुंचे ये पहुंचने वाला जगह ना पहुंच का रास्ता ही नहीं है तो पहुंच का रास्ता विधि से होती है मनुष्य जो है ना समझदार होना समझदार होने का क्या मतलब समाधान प्रमाणित पहला बात तो यही है तो समझदारी क्या चीज है अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवीय तत्व आचरण ज्ञान इन दोनों इन तीनों के आधार पर हम सोच विचार तैयार करें सोच विचार के आधार पर योजना बनाकर योजना के आधार पर कार्य योजना करें कार्य योजना करें मतलब कार्य व्यवहार करें कार्य व्यवहार का फल परिणाम होता ही है फल परिणाम यदि समझदारी के अनुकूल हो गया अनुरूप हो गया वो समाधान होता है अन्यथा समाधान होता इसमें से हर व्यक्ति को समझदार बनाने का प्रयोजन है हर व्यक्ति समाधान का एक फैक्ट्री बनना एक उद्योग बनना निरंतर बनते ही रहना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ऐसा यदि परिवार होता है तब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था होगी उसके पहले होने वाला नहीं है ठीक है अभी भी हम परिवार का नाम से रहते हैं किंतु भ्रम से धर्मवश हम एक छत के नीचे रहते हैं हम साथ नहीं करते एक छत के रहना तो हमको समझ में आता है किंतु जीना साथ में जीने के लिए नहीं होता आपस में हर हर बच्चे बड़े के बीच में हर साथी सहयोग के बीच में सबके साथ जो है ना दूरियां बनाई गई हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा झंझट तो बना कर फंसा ही रहता है ठीक है इससे मुक्ति पाने के लिए भ्रम मुक्ति आवश्यक है भ्रम क्या है अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति और व्याप्ति दोष ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कह के चले गए उसको हिंदीकरण करने से होता है अधिमूल्य नामूल्य निर्मूल्य किसी भी मुद्दे पर हम अधिमूल्यन करें अवमूल्य किसी मुद्दे पर अवमूल्यन करें किसी मूल्य को हम समझ में न करें निर्मूल्य करें इसमें कोई मूल्य नहीं है ऐसा कहें ऐसा भी इस प्रकार से दोषों से आदमी ग्रसित हो चुका इसमें इसी में आदमी इसी इसी तीन क्रिया का नाम है भ्रम इस भ्रम मुक्ति के लिए क्या चाहिए समझ समाधान ही चाहिए सर्वतोमुखी समाधान चाहिए जिसको हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है क्या अभ्युदय अभ्युदय नाम अभ्युदय का एक शब्द दिया है उसका परिभाषा मैंने समाज सर्वतोमुखी समाधान लिखा मैंने लिखा तो हमारे बुजुर्गों ने अभ्युदय के बारे में जो व्याख्या दिया है मनुधर्म शास्त्र में चार वर्ण चार आश्रम की बात का उन चार आश्रम चार चार वर्ण चार आश्रम का जो नित्य कर्मों को बताया वो नित्य कर्मों को करना अभ्युदय है ऐसा उन लोगों ने लिखा है हमारे पूर्वजों का लिखा वो नीति अभी जो चार चारों चार आश्रम के बारे में परिशीलन करने जाए किसको किसको क्या किस वर्ण में कहें जैसा मैं ही बैठा मुझको कौन सा वर्ण किस वर्ण में कहा जाए इसको एक छोटी सी सभा में हम लोगों ने परिशीलन किया तो उसमें जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन रहा और आरएसएस का रहा और हिंदू विश्व परिषद का रहा तीनों जगह के लोग थे दस पंद्रह बीस लोग थे हम लोग भी बीस लोग थे तीस चालीस लोगों का एक सभा में इस बात का परिशोधन किया पच्चीस अभी जब अपन तीस पच्चीस लोग बैठे हैं तो इसमें से हर व्यक्ति को कैसा किस आश्रम में पैसा न जाए किस वर्ण में पैसा न जाए अंत में ये हुआ हम लोग सवेरे आठ बजे से शुरू किए रात्रि दस बजे तक सिर्फ उठे अंतिम बात यही निकला आज की स्थिति में वर्णाश्रम को कोई ठहरा नहीं जा सकता ये ये इस, इस जगह में हम हैं यदि यहां कोई विद्वान ऐसा हो वर्णाश्रम को कोई ठहर सकते हैं ऐसा कोई हो उनसे हम समझना चाहें ये भी रखा ठीक हो इस तरह से हमारा अनुभव का परंपरा ऐसा चल रहा है चलते हुए अंतिम निष्कर्ष में बताया हर मनुष्य को हर व्यक्ति को हर नर नारी को समझदार होना है हर परिवार समझदार परिवार होना है सब जो है ना समझ परिवार मूलक स्वराज की व्यवस्था हो परिवार ही है संस्कृति सभ्यता किस विधि से परिवार विधि से सभा विधि से विधि व्यवस्था चारों भाग का धारक वाहक हो सकता अभी जो है ना जो सभा में जितने भी हैं ना तो संस्कृति सभ्यता का धारक हो रहे हैं ना विधि व्यवस्था का धारक हो रहे हैं अब कहा पहुंचेंगे अच्छा इसके पहले राजा महाराजा की बात तो कथा बता दी तो इस पर इस प्रकार हम यहाँ पहुंचते हैं ये व्यवस्था का विकल्प चाहिए विकल्प विकल्प यदि चाहिए इस पर हम पहुंचते हैं तब ये परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का सुझाव आता ऐसे समझदार परिवार ऐसे होते हैं जिनमें परिवार में जैसे संस्कृति मानव संस्कृति सभ्यता को वहन करते हैं और मानवीय आचार संहिताओं के संविधान और व्यवस्था को वहन करते हैं ऐसा यदि अपन स्वीकार कर पाते हैं अभी आगे की व्यवस्था के बारे में अपन सोचते हैं सोच सकते हैं कि इसकी जरूरत है कि नहीं व्यवस्था का स्वरूप के बारे में आप आगे बताना चाहें ठीक है पानी दे यहाँ तक ठीक हुआ यहाँ तक ठीक हुआ कि गलत यहाँ तक ठीक अभी जितने बार आप लोगों को सूचना के रूप में रखा इसमें से असंतुष्टि यदि कोई हो उसको हम स्वागत करते हैं और वो क्या कैसे असंतुष्ट हुए उसको जानना चाहेंगे कोई कोई ऐसा अपना असंतुष्टि को बताने वाले कोई हैं इस पूरे सभा में कुछ कहना नहीं ठीक है धन्यवाद तो अपन जो है ना सूक्ष्म रूप में या सूर्य रूप में पूरा तन मन धन रूप में अपन इसमें सहमत है मान के चलते हैं आगे तो यदि सहमति होती है समझदारी का सहमति तो होना ही चाहिए मेरे अनुसार प्रार्थना के रूप में और शायद है सभी लोगों की स्वीकृति है समझदारी अभी पूरा नहीं है इस बात को स्वीकार सकते हैं क्यों स्वीकार सकते हैं उसका कुछ गवाही आ गई विश्व मानस मानस के लिए धरती बीमार होते हमारा जी से ही धरती बीमार हुआ है समझदारी की वजह से धरती को बीमार करने का कोई इरादा नहीं ठीक है तो इस आधार पर अपन ये स्वीकार सकते हैं कहीं ना कहीं गलतियां हुई तो उसमें अब सहीपन के बारे में भी बात हुई सहीपन समझदारी ही है समझदारी में तीन पहल बताया तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान इन तीनों आने से समझदारी होती है जिसके आधार पर हम व्यवस्था तक पहुंच सकते ठीक है तो ऐसी समझदारी हर व्यक्ति में होना है ऐसे समझदार व्यक्ति का परिवार होना है परिवार में जो है ना परिवार के रूप में हम संस्कृति सभ्यता को वहन करते हैं क्या संस्कृति मानव संस्कृति मानव संस्कृति क्या होता है पूछा मानव चेतना संपन्न कृतियां जितने भी हम करते हैं सवेरे शाम तक सोच सोच के रूप में विचार के रूप में इच्छा के रूप में कार्य के रूप में चारों विधा से जितने भी कृतियां हम करते हैं वो मानव चेतना से संबद्ध हो मानव चेतना का अध्ययन कराने की व्यवस्था दी है चेतना विकास की बात किया है चेतना विकास में मानव चेतना जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है और मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ पर है और दैव चेतना से देवी चेतना श्रेष्ठतम है इसका हमने पहचाना है हम जो नई तीनों चेतना में हम पारंगत हम मानव चेतना में जे करके मानव को प्रेरणा देने के लिए प्रस्तुत हूं इस प्रकार की हमारा काम इन तीनों चेतना में हम स्वयं पारंगत ठीक है ना जो समझना चाहेंगे तो हम समझाई भी देंगे जो हम पारंगत हों इसका प्रमाण हम समझाना ही योग्य इसका मतलब यही है तो हम इसको जो चाहता है जिज्ञासा है उनको हम समझा ले जाएंगे ये बात आपको हम अपने तरह से प्रामाणिकता के पक्ष में एक अनुरोध करना चाहते हैं उसके बाद ऐसे जो हम साहसित्व अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान में हर व्यक्ति को हम पारंगत बनाते हैं वो आचरण करने में योग्य होते हैं समझाने में योग्य होते हैं जीने में योग्य होते हैं इसमें मानव चेतना मानव चेतना से जीने से क्या फायदा न्याय प्रधान विधि से धर्म और सत्य को प्रतिपादित करना बनता है आचरण करना बनता है मानव का जो कुल मिलाकर के सही बन है उसका नाम है न्याय धर्म सत्य न्याय क्या होता है न्याय संबंधों को पहचाना उसका निरंतरता होना और उसमें जो विश्वास रूपी विश्वास पहला स्वामी मूल्य है प्रेम परम मूल्य है इनको प्रमाणित करते उसके ऐसे इस बीच में और कुछ मूल्य होता है कुल नौ मूल्य होता है कृतज्ञता गौरव श्रद्धा प्रेम विश्वास वात्सल्य ममता सम्मान स्नेह ऐसा नाम दिया उसको जो है ना मानव मानव ज्ञान मानव से मानव संचेतन वाले मानव ज्ञान में इस बात को अच्छे तरह से व्याख्या की इसको कोई भी देख सकते उसके ऊपर कोई चीज की व्यतिरिक हो हमसे बात कर सकते हैं हम समझा दिए ठीक है ये लिखा इन मानव संचेतना वाले मानव ज्ञान में इन पूरे मूल्यों के बारे में बोध कराया गया वो अभी इसको इसीलिए लिखा ये अभी हमारे सामने तीन भूतों को चढ़ाने की व्यवस्था है शिक्षा में लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद इस चीज को पढ़ाते हैं अभी यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो सबका सबको विदित है ये बात ये तीनों थीसिस के बारे में हम अभी शिक्षा संस्था के प्रांगण में बैठे हैं इन शिक्षा संस्था में जितने भी अध्यापक हैं सबको इस बात की विदित है तो ऐसे ऐसे स्थिति से ऐसे स्थिति की विकल्प के रूप में हम देखा है लाभोन्माद के विकल्प में लिखा है आवर्तनशील अर्थशास्त्र समाज शास्त्र के विकल्प में लिखा है और क्या लिखा है व्यवहारवादी समाज शास्त्र और मादी मानव ज्ञान के विकल्प में लिखा है मानव संचेतनवादी मानव ऐसा लिखा नाम दिया है वेद केवल नामे बता रहे हैं और उसका पूरा अध्ययन कराने की व्यवस्था अपने पास रखा जो अध्ययन कराना चाहे करना चाहते हैं उसको कराते भी ठीक इस ढंग से हम आगे चलते हैं इसको लेकर के मूल में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र मनोविज्ञान ऐसे मनोविज्ञान विकल्पात्मक क्या बोध कराने की बात मानव चेतना में चीजें के अधिकार आता ऐसे अधिकार आने के पश्चात संस्कृति के संस्कृति का शब्द अशब्दता परिभाषा दिया है पूर्णता के अर्थ में किया हुआ कृत्य क्या पूर्णता है न्याय धर्म न्याय समाधान शक्ति को प्रकट करने की कार्यक्रम इन कार्यक्रम में जो हम निष्णात होते हैं इनको क्या कहा तो पूर्णता के अर्थ में इस पूर्णता का क्या नाम है क्रिया पूर्णता कार्य इतने में कर सकते हैं न्याय धर्म सत्य को सत्य पूर्णता नहीं कर सकते इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उसी के आधार पर यह क्रिया पूर्णता के अर्थ में पूरा का पूरा हम कार्य करते हैं क्या करते हैं सोच सोच विचार पूर्णता के अर्थ में योजना पूर्णता के अर्थ में कार्य योजना पूर्णता के अर्थ में और उसका फल परिणाम पूर्णता के अर्थ में होना होने पर समझदारी के अनुकूल हो गया समझदारी के अनुरूप हो गया उससे समाधान पैदा इस ढंग से मसाला समाधान का ये हर व्यक्ति जिम्मेदार हो सकते हैं इस बात पर आपको पहले याद दिलाया तो ऐसे समाधान संपन्न परिवार में क्या होता है विशेषता समाधान समृद्ध समाधान समझदारी के आधार पर समाधान समाधान आ गया और श्रम से समृद्धि आएगी इसके अलावा मानव को रास्ता नहीं है सही ढंग से नहीं करना अभी क्या हो रही है शिक्षित व्यक्ति कुछ भी नहीं करना सब कुछ पाना सेक्स नहीं हो गया कि नहीं हो शिक्षित व्यक्ति कुछ भी नहीं करना सब कुछ पाना यहां हम पहुंच गए अब क्या कह आप ही सोचिए शिक्षित व्यक्ति जब कुछ नहीं करना और सब कुछ पाने की इच्छा रखना क्या होगा इसका इसका परिणाम क्या कार्यक्रम क्या कुछ दिशाविहीन हो गए दिशाविहीन होने के बाद मनमानी होना स्वाभाविक है मनमानी का यही प्रयोजन है सकला प्राप्त तो वही नहीं एक आदमी कुछ बात को माना दूसरा आदमी ने और कुछ माना और अंत पता तो सभी अवैध वैध हो गए अभी अब सभी अवैध को वैध मान करके हम गंगा पी गए हैं गंगा जी को पी गए हैं अब वो हमारा गति क्या होने वाला है पता नहीं ऐसा ऐसा जगह में हम आ गए इस आधार पर पुनः व्यवस्था को परिव्यवस्था परिवर्तन होना आवश्यक है यहाँ इस निष्कर्ष में आते हैं तो अभी सूत्र रूप में इसी को माना जाए यदि व्यवस्था को परिवर्तन करने जाता है तो यही बनता है भाई अभी सभा विधि में व्यवस्था का ध्रुवीकरण मानते हैं उसको कहाँ माना जाए समझदार परिवार में माना समझदार परिवार में एक परिवार में पद क्या तो एक परिवार शासन करेगा नहीं उसकी विधि पर एक दस समझदार परिवार मिलकर एक समझ एक परिवार समूह का एक सभा घटित करता क्या उसका सुना दस परिवार ऐसा समझदार परिवार अपने में अपने दस व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मनो इसमें में से ये करेगा क्या क्या करते हैं हाँ। मनोनीति नहीं है सब चुनाव करते हैं उसको क्या कहते हैं निर्वाचन निर्वाचन करते हैं ऐसे निर्वाचित किया हुआ व्यक्ति दस व्यक्ति होते हैं वो दस व्यक्ति मिलकर के एक परिवार समूह सभा को उस गठित करेंगे परिवार समूह सब वो दस दस परिवार में एक सूत्रता को स्थापित करने योग्य होते ऐसे दस जो परिवार समूह सभा से एक एक बच्चे निर्वाचित होकर के पुनः एक ग्राम सभा या मोहल्ला सभा को गठित करते हैं ऐसे दस जब ग्राम सभा समय से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के ग्राम समूह सभा के रूप में एक सभा को गठित करते हैं और इसे ग्राम समूह सभा दस होने की बात और उसमें से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होने के बाद वो क्षेत्र सभा को गठित करते और इसे दस क्षेत्र सभा में करके एक मंडल सभा को गठित करते हैं ऐसे दस मंडल सभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य मिलकर के मंडल समूह सभा को गठित करते ऐसे दस मंडल समूह सभा में से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मुख्य राज्यसभा को गठित करते मुख्य राज्यसभाएं दस मिल करके वो एक एक व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं वो प्रधान राज्यसभा को गठित करते हैं इससे से इसे जब बाकी प्रधान राज्यसभाएं जितने भी धरती पर होगी सब मिलकर के विश्व राज्यसभा बन ये ऐसा कार्यक्रम दिया ये मुख्य बात क्या है मुख्य में हर व्यक्ति समझदार होने की जरूरत है ईमानदार होने की जरूरत है जिम्मेदार होने की जरूरत है और उस जिम्मेदारी के अनुसार भागीदारी करने की जरूरत है इतने ही चारे सूत्र है इन चारे सूत्र को विस्तार करने पर इस प्रकार की विश्व राज्य सभा तक अपन पहुंचे यदि यदि इसमें अपन सहमत हो पाते हैं हम अपराध कृत्यों से तो मुक्ति पा सकते हैं भ्रम से मुक्ति पा सकते हैं और अपना पर्याय से दूरी से मुक्ति पा सकते हैं इन तीनों प्रकार से मुक्ति पाने की विधि निकलती है इसकी आवश्यकता है या नहीं इस पर एक गोष्ठी हो सकता अभी भी हो सकता है तभी भी हो सकता है इसकी आवश्यकता है कि नहीं इसमें आपका क्या कहना किसी कोई कहना बनता है नहीं बनता है से ऐसे से परिवार मूलक स्वराज्य गठन के बारे में आवश्यकता है कि नहीं ये जरूरत है कि नहीं ऐसा लगता इसमें अपने को परंगत होना की आवश्यकता परंगत होने के बारे में ये व्यवस्था दिया है पहले आदमी की परिवार ये जो जीवन विद्या सूचना जीवन विद्या एक अच्छापन की सूचना या अच्छाई का सूचना पूरा चौवन या चौवालीस मुद्दा है उन मुद्दे में यदि हम पारंगत होते हैं तो हम अच्छा आदमी बन सकते हैं ऐसा सूचना है अध्ययन कराने के लिए मध्य दर्शन साहित्य पूरा ग्यारह फीसद ग्यारह प्रबंध है उन ग्यारह प्रबंधों को पढ़ाते हैं उसमें से इस द्वैत और बनता है उसको समझाने की व्यवस्था मनुष्य करेगा अभी जो है नाम चाहते हैं यंत्र पढ़ाएगा यंत्र पढ़ाना ही पड़ेगा कभी यंत्र को बनाता है आदमी आदमी बनाया हो तो आदमी से छोटा ही होता है इतनी बात ये स्वयं विज्ञान स्वयं प्रचलित विज्ञान ही पढ़ाता है इसको जो जो जिससे बनता है उससे छोटा होता है ये लिखा ठीक है जैसा संतरे का झाड़ में संतरा संतरा फलता संतरा का झाड़ से छोटा ऐसा करता है कुमड़े के घर से संतरा फलता है कुमड़े के झाड़ से छोटा ऐसा उनका कहना इस ढंग से उनका सोच ये तो प्रकृति को देखने से और कुछ हो भी जाता है जैसा कुमड़े के झाड़ में ये कुंडा पूरा कुमड़े के झाड़ से बड़ा हो जाता ये भी देखा गया दोनों चीज को देखा गया ठीक है सबको देखने की बजाय अपने को अपने में सोच के मंथन करके तय करना है मनुष्य से किया हुआ कुछ भी का मनुष्य से छोटा होता है इस बात को तय करने की आवश्यकता उसी के आधार पर हम समझदार होकर के अपने संपूर्ण पर के साथ जी सकते हैं इस निष्कर्ष में आने की आवश्यकता यही प्रार्थना के साथ हम थोड़ा देर रुकना होगा इसमें इसमें से कोई भी किसी को कुछ पूछना होगा उसको पूछने से उसको हमको संतोष मिलेगा उसके आधार पर आगे बात हैं इधर इधर यहीं पानी मिलेगा ही आपसे बड़ी प्रत्याशा रखे थे आप कुछ ना संसार के लिए प्रेरणादायक बात करोगे कब करोगे अभी कर लो अभी जो एक टीम बताया इस टीम के आधार पर आप बात कर सकते हो

उसको जो है ना आपको कन्विंस करना हमारा काम है ना हो सकता है हम तो हम तो देखा है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सुधार का रास्ता वो कोई नहीं अब वे वे हो सकता है कि नहीं कि अगर बात को कन्विंस करना हमारा काम है ठीक ठीक